ज्ञान मुझे आकाश के समान सर्वस अतिक्रमण कर पहुंचे के समान भान होता है पूर्वार्थ का उपसंहार कर रहे हैं दूसरार्ध के का देते हुए कहते हैं सर्वव्यापित सूर्य के सर्वपिणावित पूर्वार्ध का तात्पर्य है वह आत्मतत्व इसलिए वह सर्व संसार धर्म से रहित है सर्व संसार करो वर्जित अपनी जो निरूपारिक स्वरूप है उस निरूपारिक स्वरूप के अनुसार वह अविक्र वह अविक्र ही होकर उपाधि है सर्वा संसार विक्रिया भवती उपाधि के कारण से हो रही संसारात्मक क्रियाओं को सभी प्रकार के संसार की क्रियाओं को

जैन की स्त्री वो वह भाई थी ऐसे मंत्र आएगा या आत्मा वास्तव में लीला नहीं करती परमात्मा ध्यान करती कुछ भी इसी अर्थ को और विस्तार करते हुए उत्तरार्ध में कहते खाओ तो तो दुर्गम अन्यान आत्मलक्षण मनोभाव इंद्र प्रवृत्ति अति क्या क्षतिर भाषिकार जोड़ दिए दौड़ते हुए जाते हुए जैसे लग रहा है उनके पीछा से जाते दौड़ रहा है और अन्यों के पीछा अन्य कौन है जो आत्मा के लक्षण है मन है वाणी है और इंद्रिया है और इत्यादि इत्यादि जितने भी है दौड़ने वाले उन सब की अपेक्षा से अतिथ्य गच्छती अतिक्रमण कर दौड़ते हुए समान लगता है यज्ञ पुरुषों विचार करेंगे यज्ञ अनुसार वेदवाचार मंत्रों से कथन करने वाले हैं यहाँ पर अतिथि गमन का मतलब है कि ये मतलब पकड़ ग्रहण उसका विषय नहीं बना यही अतिक्रमण और कुछ हम बिना गाँव से लाया राशि में कैसे जोड़ दिए गच्छती की वह भी वास्तविक मतदान नहीं है जवाब दे चुका है जो मैं श्रुति अपनी तरफ से कह रही है युवक का साथ युवक कहाँ से आया भाषिकार इसलिए ले रही पूजा अत्यति अच्छा कैसे होगा इसलिए युवक का होने पर वह स्वरूप तिष्ठत फिर भी उपाधि के द्वारा गमन के तद्वैवार्थ स्वयमेव दर्शित श्रुति यह अर्थ को जो हमने ग्रहण किया स्व आरोपित वस्तु नहीं है किंतु उसको स्वयं ही श्रुति विकार में स्वयं अविक्रिय सद गच्छति स्वयं अविक्रिय होते हुए भी उपाधियों के कारण से गच्छति भाग हो जाता है से वस्तु भी है यही संसार में क्या प्रमाण जो हमारे मन का विषय नहीं वाणी का विषय नहीं किसी भी इंद्री का विषय नहीं ऐसा ही वस्तु संसार में है इसे क्या प्रमाण ऐसे हम मान देंगे ऐसा भी कोई चीज है आप तत्व से नित्य चेतन सुखाव के जैसे ऐसा है श्राव जो कर्म है ना जितने भी उनका जब अनुष्ठान करोगे तो कितना नहीं ऐसा इक्तिजा मानते हुए इतिहास तो जुड़ने का पूर्व क्या पूर्व कैसा है आपने देखा न्याय आपने किया कोई बात अपूर्व निकला और सीधा संगम देखा लिया थी कैसे करते हो आप हाँ? मानते हैं न मन से ग्रहित है न वाणी से गृहित है किसी भी किसी भी इंद्र से ग्रहण नहीं श्रुति कह रही है कर्मान चाहिए तो कर्म से अतिरिक्त होगा अमुक कर्म से पुण्य होगा अमुक कर्म से पाप होगा और वो पुण्य पाप में रहेगा समय आने पर इसी प्रकार संसार में बहुत सारे वस्तु है हमारे पूर्व पक्ष जितने भी है उन सब पूर्व पक्षियों से पूछा जाए हर पूर्व पक्षी के पास ऐसे तत्व है जो उनके लिए आदि का अंश इसलिए पूछिए

दृश्य के पीछे एक अदृश्य की परिकल्पना अधिष्ठान और उसे प्रमाण के चंद्र शुद्धि प्रमाण है ईश्वर अनुभूति प्रमाण है स्वानुभूति भी प्रमाण है हम क्या हम क्या नहीं हमें पता नहीं लेकिन इतना तो मालूम है हम सोते रहे तो मालूम तो कौन जानता है तो कैसे जान लिया आपने कि आप हर शुक्र को आपने अनुभव किया तो सभी के लिए बोल रहे हो मैं सिर्फ तुरंत सदा हूं तो समय तो बोलते नहीं मैं ऐसी कोई वृत्ति बनती कोई जगह नहीं व्यवहार करते नहीं मैं सिर्फ हा कहा से आ तो अनुभविता को आपको मानना ही जो आपके बाद मन है दसवीं आत्म तत्व है सती नित्य चैतन्य स्वभाव है आत्म तत्व है आत्मा आत्मा सर्वम आत्मा की आत्मा जाति की आत्मा सभी को ग्रहण कर लिया है शरीर को अच्छा सातक में से बनाया निरंतर बने व्यापक है अनित्य चित्र अनित्य चित्रों को बिहारियों को मानते हैं लोग उससे भी नित्य चेतन से अभिनय चेष्टा भी आप करते हैं ये बात को मानना पड़ता है मातृश्वर है से मातृ Andrzejczyk şöyle götürdü diye anlatmış. Yılların नहीं है ना हाँ ये वायु नहीं ये वायु हमारे कर्मों के थोड़ी कर सकता है ये जो वायु है ये हमारे कर्मों को धारण कर सकता है क्या हमारे पुण्य पापा आदि कर्मों को जानकर उसका फल देने की सामर्थ्य उस वायु में है, नहीं है इतने मात्र से ईश्वर नहीं बताएंगे क्रियाधिकार हाँ, है सर्वप्राभुत क्रियात्मक निराश्रयानी आदरदातानी येसु लोकानि कृतच यत् सुख सर्वस्व जगत विधारित सर्वप्राण सकल प्राण भूतों को क्रिया से अपने धारण किया कहने का मतलब हिरण्य हाँ। माता अंतरिक्ष निर्णय भूतानी की इनको में

मैं ये भाषाकार कह रही है प्रवीण के यंत्र के आधार पर मातरी अंतरिक्षी सकल प्राणों को धारण करता हुआ जो क्रियात्मक है उसी का नाम यहाँ वेगा सिद्धांत समझने के लिए मेघ जो तत्व जो बनना है वृष्टि और समृष्टि को जानते हैं वृष्टि भी त्रिविधा है शरीर शरीर में नहीं लेकिन तेरी शरीर है जड़ ये तो जीवात्मा नहीं ये तो दृष्टि नहीं हो सकता तो शरीर राजधानी विश्व का स्थूल शरीर राजधानी तेजस और काल से राजधानी को प्राप्त विश्व तेजस और अवश्य में देख रहे हैं ये सारा विश्व ब्रह्मांड गरीब विश्व विश्व गरीब इसी का जीवन है उजागरण शरीर का गुरु बनाओ क्या विश्व विश्वस्त ऐसे गुरु श्री भारी शरीर तो क्या विश्व गुरु एकदम वजन ज्यादा गुर्दे शरीर के वजन ज्यादा है मोटा पड़ेगा लंबा छोड़ा है तो विश्व हम दे रहे हैं हम किसी को जा रहे हैं उनको दूसरा कहो ना इतना तो दूसरा आगे कर दो विश्व का गुरु ऐसा कर दो विश्व का गुरु अपने ही शरीर का गुरु है भारी बन हाँ। सभी का गुरुवास कर लो विश्व के गुरु हो वजन कर दो विश्व शरीर है ना इस शरीर का नाम ईश्वर होता है संविधान चेतन का नाम भी ईश्वर के नाम और शरीर है जैसे पंद्रह पदार्थों का पंच ज्ञान इंद्र पंच आपका पंच प्राण पंच कर्मेंद्रिय और बल ये निर्भर सुख शरीर में उसी शरीर का अभिमानी तरीके और कारण शरीर में गिरा हुई आत्मा आवरणात्मक उसका अभिमानी का नाम प्राप्त वो आनंद रूपा और वैसे लेते हैं पंचमी कोष के हिसाब से पंचकोष अनुमय कोश हो गया प्राण में मनोमय विज्ञान में कोश हो गया शरीर तेजस आराम का निर्देश हो गया वैज्ञानिक दृष्टि में रहते पूरा तो समष्टि का जो एक स्थूल जो देख उसका नाम विराट विराट इसका जो अभिमानी सूक्ष्म समष्टि जैसे सर्वप्राण हम सब के प्राण जितने भी है इस ब्रह्मांड के अंदर जीव चराचर सभी के प्राणों का जो धारण पोषण करने वाला इन सभी की क्रियाओं का जो अभिमानी है उसे हम कहते हैं सूत्रात्मा तो, ब्रह्म फिर सारी जो सूक्ष्म तो माया उपाधि ये अविद्या उपाधि कहते हैं कारण शरीर और माया उपाधि कारण शरीर समझती इसका मत ईश्वर तो यहाँ विराट ब्रह्मवर और तो सूत्रात्मा सूत्र संजकम कहते हैं सूत्र संजक का सूत्रात्मा भी कहते हैं इसको थोड़ा अंतर किए हैं आगे आएगा उपाधि हिरणगर सूत्रात्मा में तो हिरणगर का सूत्रात्मा हो गया और ईश्वर इसलिए माया अंत प्रक्रिया माया माया पांच सगल प्राणों को धारण करने वाला और क्रियात्मक क्रिया प्रधान जो इसे सूत्रात्मक को क्या कहते हो क्रिया प्रधान ज्ञान इतना फर्क कर दे वो है सुख शरीर में सुख शरीर में एक क्रिया प्रधान को लेकर के एक ज्ञान प्रधान क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति दोनों से सारा संसार चल रहा है क्रिया शक्ति प्रधान हिरण्य है और ज्ञान शक्ति प्रधान सूत्र और एक ही है लीलाश्वरी कार्यक्रम जाता युवाश्रेणी कार्यक्रम जाता वायु वही गौतम तत्सूत्र वायुरा वही गौतम सूत्र अयम चलेगा परस्त लेकर सर्वान चिल्लानी भूतान से ब्रह्मानी इत्यादि मंत्र तो प्रमाण कि यही क्या सूत्रात्मा ये सफल कार्य कर्म समूह को धारण भिन्न कार्य कल्प मिले मतलब है वो इसी सीरम में गिर गए अपने शिशु तो में होता है कुछ मन में कुछ विचार और यशवी ने और यशविन होता नहीं चक और जिसमें एक तो सर्वांग भूतानी के संदर्भधारी मंत्र कहता ये सारे भूत किसी में एक एक तो गाड़ी में तो में जो एक प्रोत ये आकाश में कहा होता प्रोत बताओ रह जाएगा मत कुछ फालतू आगे पूछेंगे वो है बस बता दिया मान तो हो कोई जरूरी करते हैं विरोधी हालत बड़ा हो जाएगी अभी प्रश्न आपके तत्व के विषय में वो आता ही कहा बात जैसे आ दुनिया जिससे करती थी वो ऐसा होता है तो स्वरूप स्वयं ही नहीं लेकिन महाराज तो तो जी को उपदेश दिया कहा है वो पूछा घूमा कहा है संवाद करें स्वयं अपने स्वरूप के आने करें आप कहा

जीवन जीवी कैसे जो धारण किया है वैसे कृष्ण जीव की आत्मा के जीवन को शरीर तो है इधर इन्हीं को दिया है अच्छा नहीं यह सूत्र ज्ञान शक्ति केवल क्रियात्मक नहीं है स्वयं का नियमन करता है मैत्री को जो बताया गया है जो शरीर की संज्ञा होता शरीर का भीतर है तो शरीर को जो नियमन करता है वो सर्व नियमता जिस ज्ञान नहीं जिसको नियमन कैसे करेगा आपके अंदर ज्ञान नहीं है आप किसी चीज का नियंत्रण कर सकते हैं उस चीज का वो ज्ञान है अब जैसे ड्राइवर तो गाड़ी को नियंत्रण कर रहा है कैसे कर रहा है आप जो नहीं जानते हो बिठा रहे तो आप नियंत्रण कर दोगे मेरे को मार देते ब्रेक करो तो बाहर से भाग देते पकड़ जाए नहीं आप नियंत्रण तब सकते हैं आपको मालूम है ब्रेक कहाँ है क्लच कहाँ है क्या चीज कितना है कौन से बटन दबाएंगे कहाँ घूमेगा फिर क्या होगा तभी आप उसको नियंत्रण करते मैंने ज्ञान शक्ति के बिना नियमन असंभव ये तो क्रिया प्रधान को ज्ञान प्रधान ही हमेशा नियंत्रण कर सकता है इधर सूत्र आत्मा को जो नियामक होने के नाते हम ज्ञान प्रदान और शरीर को क्रिया प्रभाव करता है इसलिए क्रिया को जो कहता था वही जो ज्ञानात्मक है सूत्र संज्ञा वाला है सर्वस्व जुड़ता सभी जगत का विधारिता है उस विधारिता का है तो ही यहाँ मात्र श्वास तो प्रश्न प्रसंग अराय रत्नाभो प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित होती है चपल में चला सेंटर में इधर उधर रख के चक्र में भी तो बीच में कर्म है तो सारे जो है जितने भी उसमें लगे हुए जो अरा है वो नाभि में लगे हुए हैं उसी प्रकार के सारा का सारा संसार जो है इसी प्राण में माइने में क्योंकि प्राण में जिम्मेदार है शुक्रात्मा है उसमें सुदृढ़ है उसे संभावित इसलिए हमारे का है ही ये हमारे में रखिए पुण्य और पाप का कि जितने भी यदि कर्मकांड करते हैं बिना जन्म से संकल्प नहीं होता और जन में पदार्थ जितने पदार्थ आप दूध डालोगे दही डालोगे सोम में चाहोगे कुछ ही करो सब में जलाश तो है जल प्रदान ही मिला होता है सर्वन्य नित्य जो डाले जाने वाले वस्तु जल प्रधान है जितने डाल रहे हैं तो अग्नि है इंद्रियों का संबंध से ही कर्म का निष्पादन होगा आता है छोटा चुके कर्म कर्म से क्या रहेगा क्यों नहीं वैदिक ही नहीं प्राणियाम चेष्टा लक्षण प्राणियों का सकल कर्म है निषिद्ध है और कई कर्म ऐसे थे जो नहीं तेरह निषिद्ध है निषिद्ध में आते ही नहीं चर्चा ही नहीं मेरा आपसे हो रहा है ಈ साराई बहुत चूरे हम राहत प्रवृत्त हो आपको जो है ये नहीं कहा गए श्रुति ने कि आप इच्छा कीजिए ये श्रुति है जो कहती है कि आप इच्छा करें यदि आप अमुक की इच्छा कर तो ये करो ये जरूर कह रही यदि स्वर्ग की आपकी इच्छा है तो आप एक अंकांड कीजिए आप देखने इच्छा है तो फिर कीजिए लेकिन ये नहीं जानने की इच्छा करो आप ऐसी इच्छा यदि आप गृहस्थ है तो पुत्र की इच्छा जरूर कीजिए ये जरूर कहेगा यदि ऐसा है तो ये करो लेकिन कभी नहीं कहते आप इच्छा कीजिए आप भोग कीजिए आप अमृत कीजिए या हमेशा यदि ऐसा है तो ऐसा आपको विधि विधान है मिट्टी क्या है यदि आप जो है त्रैवर्णिक है आपका जन चोटी है और असंजम होता है आप क्या अपराध को मानते हैं उस पर सब विधियां हैं नहीं कई मेरे कहेंगे अरे आप ब्राह्मण ऐसे वेद नहीं बोलता आप यदि ब्राह्मण है तो आप ऐसा अब आप क्या मान रहे हैं अपने देवताओं पर अगर नाम ब्राह्मण है मनुष्य में पशु है तो ठीक है भाई आनंद करो मेरी ज्ञान से पढ़ेगा एक ब्रह्म ज्ञान नहीं तो कोई बात नहीं वेद नहीं आपको पैदा ब्रह्म ज्ञान नहीं है आपको करना पड़ेगा ब्रह्म ज्ञान तो ठीक है अगले विषय से करेंगे तो कभी भी ये नहीं पहले आप क्या है ये श्रुति निर्णय नहीं करती है निर्णय हमें करना पड़ता है हम क्या है उन्होंने जन्म है उस जगह पर सारा लागू हो जाएगा विधि लागू हो रहा है कि निषेध लागू हो रहा है कि ज्ञान लागू हो कि क्या लागू होगा तो बात की तय तय कर्तव्य और मेरे शास्त्र करता है तत्वा छात्र प्रमाण के कार्य कार्य गीता गीता कार्य क्या और अकार्य क्या है इसकी व्यवस्था भी शास्त्र प्रमाण लेकिन मेरा कार्य क्या मेरा कार्य आदमी क्या नहीं है निर्णय शास्त्रता जगह जब पहले ये तो मैं कौन तो निर्णय हो जाए तब मेरा कार्य रखा कार्य का निर्णय शास्त्र करेगा उत्तर तो नहीं है इसलिए ना चाहते कि देखो कि ये सारी चीजें क्या है समस्त प्रकार की चेष्टा में सब अग्नि अग्नियारी अग्नि आदित्य आदि राम जगत गहन प्रकाश विवर्षणा लक्षणानी विभाति भजती विश्वा तो वो भी ईश्वर है आप ही के कर्म के अनुसार आपके सामने अग्नि को धारण किया सूर्य को धारण किया बादल को धारण किया और अग्नि आपको गर्मी दे रही है जलाती है रोटी बनाने की है कर्म नहीं है गैस सिलेंडर लेके दौड़ते रहते हो गैस कहीं गैस नहीं अग्नि नहीं मिली आपको कर्म संबंध बनाए रहते रहते उनको मालूम रहता है किसके घर में तीन सिलेंडर है दो सिलेंडर है आप भरा रखते हैं वो अपने पहुंचा लेगा और वहाँ पर पचास वर्ष पर मक्खन लाकर चाय पर भी पी के क्या सिलेंडर दिलाए बताओ हमसे अपने कर्म ऐसा है तो का जितनी हम वैसे बना कर रखते हैं अगर कर्म कर की ठीक नहीं है वो आप दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है जैसे कुछ नहीं परेशान इधर में उनका परिणाम आएगा चार पांच गुना दूर की बात लग गया तो अपने कर्म के अनुसार वो ईश्वर आपके लिए ही अग्नि का धारण किया आप ही कर्म के अनुसार आपके लिए सूर्य का भी धारण किया कई बार का साल भर में मुश्किल से एक आध महीना धूप निकलता वहां रहने वाले जीव का कर्म ही ऐसा है भगवान उनको वही डाल देता है एक बार जो है कोई पंचायत होना नहीं है सिर्फ मेजाज को पाते हुए वर्ग जो है ब्रह्मा जी का चाहिए दे दिया कि संसार का पालन करने वाले विष्णु भगवान पास उनको सूचना दे दी महाराज जी भले छुट्टी करना चाहते हैं उनको कोई बात नहीं करें तो इस काम पर छुट्टी ले लो और ड्यूटी कौन करेगा मेरे शिव जी को दो शिव जी आज जो है कभी भक्ता पर एक काम संभालो बहुत समाज में बहुत बहुत रस्ते चुके ना आप तो आगे काम कीजिए तो मेरे ठीक है उन्हें डायरेक्ट करके जहां जाके उनका उनका जो जोर दिया हमने शरीर बना दिया लेकिन उनकी बुद्धि भी मेरे लिए काम क्या करें है हम कर देंगे तो जगह जाएंगे एक जगह डाल देंगे डाला पांच बनता है जा डाल ठीक बारह बजे से पैदा करके डालने लगे रोज बारह बजे पैदा बाकी दिन मेरा कोई चुप मुझे आज के दिन की जंग लेने हैं उन सबको पंजा कर दिन बारह बजे की जगह खा तो कहने में बात रही है कर्म ऐसा है हिंदू ऐसा ही होता है पूरे सीधे समय बढ़िया बारह बजे ही डाल रहे हैं क्यों कर रहे हैं वो तो कर्म ऐसा जीवन कर्म जगह वैसा कुछ नहीं ऐसी जैसा टाइम देगा ऐसे देश में मैं छह महीना धूप है छह महीना धूप है और ऐसे देश में काम करे मिलता खेती की कोई कोई ऐसे कोई रिश्ते सबको को मिलेगा मंदिर जन्म कहा और कहा यहाँ का आनंद लेना सर जो कहते से सूर्य का भी प्रकाश क्यों न हो वो भी जीवन के कर्म के अनुसार ईश्वर धारण किया इतना नहीं और अभिवृत्ति कर्मयोगी बादल भी धारण करता है तो कहीं अतिवृष्टि हो रही है कहीं अनावृष्टि हो रही है हम्म? वृष्टि कहीं कितना आ जाएगा कि बस अपने कोई बारी बार हो बर्बाद अरे कहीं जितना जल थी तो क्यों उत्तर क्षेत्र में उत्पन्न जीवन के अपने क्रम अनुसार ईश्वर जो है इन चीजों को विधाती नहीं विभजती विधाती कैसे हो गया से धातु हो मिलेगा हाँ धातु बना मिलेगा और विद्या की सारी व्यवस्था हो जाएगा धारे की क्रिया अगर धारण करता है साक्षात ही स्वकर्मानुसार ने धार यदि अनुजंत कर दिया इसी धार यदि की बात स्वयं अग्निरूप संधारे स्वयं ही अग्नि धारण कर रहे थे आत्मा स्वयं ही अग्नि धारण करके आपके समक्ष आ जाए जैसे हिसाब कर ऐसे सबके कर इसमें सूत्र में दृष्टान दिए थे ना तो हिमाचल में महात्मा थे सूर्यनगर के नदी पार में तो जो भी आया थे क्या महादेव आज क्या स्वागत छोड़ आ गए तो दुर्मा महादेव आज के कारण निकल आ गए आगे आगे चोरों को ही रहे विचार चोर भी नारी तो जो तत्पर वही तत्पर भी बनाया वही सब बनाया पर वही इस रूप से आपके सामने आ रहा आत्मा ही रूप धारण करके आपके सामने आ रहा आपके कर्मों को भोग देने के लिए इसलिए धारिटी का करते हैं कि स्वयं में अपने रूप को स्वयं प्रवर्तित करता दूसरे आत्मा ने आत्मा श्रुति मान क्या है पहले दिशा उसी का हाँ में भी है दो आती तो है में जिसका भाग नहीं भाग बोले हाँ, सारी चीजें अलग अलग तरीका से मिलता है एक आप उसी ब्रह्म उसी आत्मा का भय से सब प्रकट हवा नहीं तो वो स्ट्राइक कर दे तो क्या होगा तक सोचन खाता है मन में हम लोग तो क्या करते हैं नहीं तीन चिंतन देंगे कलम नहीं चलाएंगे ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे रेल रोक देंगे क्या क्या कर दिया राम के नाम पे मंदिर के नाम पे पता नहीं कितने हड़ताल हो रहे और यदि ये भी हड़ताल कर दे राम के नाम पे मंदिर के लिए फिर कहे कि हम नहीं रोकेंगे जैसे मंदिर नहीं बनेगा हम बुझेंगे नहीं तो हम मरी क्या बोले मंदिर क्या बनेगा आधार में दुनिया भर का लोग मिनटों में फैल जाए ऐसा मंदिर क्या करेंगे उसकी हड़ताल करना गड़बड़ होता है वायु कर दे चलते ही नहीं तो मर जाएंगे एक मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा वायु तो का हड़ताल कुछ खतरनाक तो बिल्कुल तो चले ही नहीं आपके शरीर के अंदर चले नहीं देगा वायु फिर क्या होगा जब वही कृपा अल्लाह के ऊपर ये लोग तो अभी भी स्ट्राइक हैं ये जिनकी छुट्टी नहीं मिलती देखो ना कमाल एक मिनट का छुट्टी नहीं भगवान सूर्य को निरंजन तक ये कैसे हो गई प्रेम के अंदर छुट्टी दी ज्ञान है कहने छुट्टी नहीं मिले हड़ताल करेंगे और छुट्टी मिल रहा तो उसमें हम भी रहेंगे समुद्र कौन अनेक अनुभव हम निर्माण करने करते हैं कर रहे आत्मा को डर करते आत्मा वो डर के मारे आत्मा का डंडा लगाओ करना ही पड़ेगा अपना कर्म ऐसा है उसे करना सर्वा ही कार्य करना विक्रिया नित्य चैतन्य आत्म स्वरूप पवित्र कार्य क्रिया क्योंकि ये कार्य क्रिया है सारी की सारी चीजें उस नित्य में कहते क्या भाव दे रहा क्योंकि आप इस धरती पर बैठे फर्श पर बैठे कहते सर्वास्पति यही कार्य जो पृथक भाती कार्य और कार्य जैसे पृथक भाग हो रहा है वैसे पृथक भान भी सर्वास्त सर्वात्मक है सर्वात्मक बोलिए सर्वात्मक रूप है ठीक है मेरा आपका कसरत अपने बहुत मुझे समझाया मैं सुंदर मंत्र एक मंत्र भी जानता नहीं कहते फिर भी हमें और पक्का बताओ आत्मा का कसरत क्या है और स्पष्ट सीधे सीधे शब्दों में बोल देते शब्द जब मंत्रा नाम जनता मंत्रों के अंदर आलस में होने का चीज जितने बारे पूछोगे आप तो बोले जैसे बच्चा बार बार पूछता है माँ से ये क्या है ये क्या है बताएंगे एक बार दो बार तीन बार दिन आगे माँ को मेरी खराब हो गई पापा मुझे क्या बार बार कोई श्रुति ये मामला नहीं श्रुति का तुम सौ बार पूछो सौ बार इसलिए पूर्व मंत्रोत्तम अर्थम पुनरा मंत्र मंत्र में कहा अर्थ कोई दोबारा कृत है आत्मकृत हो तो कैसा है तब ईजती चलती वो चलता करता है न चाहे नहीं करती वही देखो समझो लेकिन वास्तव में वो गौता बनता भी नहीं स्वतः नहीं चलती स्वतः अचल सब चलती युवक वह स्वतः स्वतः कभी चलता करता हुआ वस्तु नहीं है वह स्वतः अचल होता हुआ भी चलते हुए के समान भान होता है च तद्दूरे नैर्ज कोटि शतैरपि अदृशम प्राप्त दूर इव नैर्ज कोटि शतैरपि सैकड़ों करोड़ों वर्ष सैकड़ों करोड़ कर दिया मैंने हर दो वर्षों में भी अविद्वान को अप्राप्ति होने के नाते उस अभिज्ञान से आत्मा सात आसमानों से परे है आठ आत्मा से ऊपर और पहुंची नहीं सकती सही भी गए है तो लादन गिरा देगा <laughs> मकान गिरा दिया हाँ, तो तुम्हारे इसमें नहीं कह रहे हो तो सात दिन से ज्यादा कुछ नहीं वो गिरा दी गई हर देवता ही सब लोग गिरा दी आप जाना भी चाहिए सब के पास तो जाने नहीं थी इसलिए जो कॉर्पोरेट देखो वो अज्ञानी के लिए तो बहुत पर के लिए परीक्षण कर लीजिए संरक्षण हो ये परीक्षण कर दिया गया है तो मैं उन्हें हुआ सूत्र यहाँ पर लगा दिया गया है आदेश हो गया वह अत्यंत समीप है सदवंती के ये समीप है अत्यंत नहीं है किसके लिए विदुषाम केवल दूरे इच्छा इसलिए आत्मा हमेशा अधूरता की बात नहीं वह बुद्धि है नहीं दूर अविद्वान के लिए समीप जो है विद्वानों के लिए क्यों समीप है क्योंकि उनका आत्मा ही विद्वानों के लिए तो उनका खुद का आत्मा ही है वो पर ब्रह्म परमात्मा ईश्वर इसलिए उनके से अलग है नहीं अतः अत्यंत समीप है अंतरिक्ष अंतरे अस्य अंत सर्वस्व अंत है और सर्वस्व बाह्य है इसलिए शुद्ध प्रमाण में रहे प्रबल सर्वांतर हो जीवन में दो चार तीन चाहिए दो चाहिए और दो बार आया जैसे दो दो बार इसका चिंतन आया अंतर्यामी ब्राह्मण का एक बार कुछ तरह सातों कुछ अर्थ हो है उसके बाद में भी भेजे जा रहे तो हैं सिर्फ दो चार में भी तीन चार में भेजे जा सर्वांग के लिए कृष्ण के अति सर्व जगत नाम क्रियात्मक अति सर्वस्यास्य बाकी अति अति सर्व संपूर्ण जगत में नाम और जगत क्या है नाम रूप क्रियात्मक है नाम रूप क्रियात्मक अभेन्दायम नाम रूप करने की नाम ऐश्वर्य जगत संक्षेप श्रुति ने कहा ही है प्रेम वायु नाम रूप कर्म इधर जगत ये जो जगत है इसे प्रभा आपन होकर सकती है एक नामात्मक एक आकार विचार रूपात्मक और क्रियात्मक नाम हो किया जाता है यह जगत क्या नाम रूप क्रियात्मक है यह जो जगत होती रक्षा से इस जगत का वो जो आत्मा है ब्रह्म है वो इन सबसे बाहर भी है ये आत्मकत्ता मैंने जहाँ आपको नहीं दिखाई देते हैं वहाँ भी आत्मा है और जहाँ दिखाई दे रहे हैं उन सब में भी व्याप्त आत्मा है इसी वजह करो मन जाता है ना पार्य से भूतानी कृपाग्य से आने ये सारा भूत कार्य परिकल्पित है ऐसे ही कि उसके पार कुछ भी नहीं है पहले के भाग और परलोक में अगर जीव है तो यहाँ पर भूत है तो भूत ही है तो आत्मा ही ऐसी बात नहीं इसके भीतर भी आत्मा है इसके बाहर भी आत्मा है सर्वत्र नहीं आत्मा स्वयं हित दिया आपका आकाश मतलब आकाश के समान यह व्यापक होने के कारण से जहाँ वस्तु दिखाई दे रहा है वहां भी आकाश है जहाँ वस्तु नहीं अनुभव रहता हो वहां भी आकाश है ठीक उसी सूक्ष्म कभी भीतर जाए तो निकालो ढूंढो ढूंढ लेगा सूक्ष्म हृदय में है हार्ट का ऑपरेशन कर दिया का हार्ट नीचे निकाले नहीं है वो किसी की अपेक्षा नहीं उपाधि की अपेक्षा नहीं उस कराने के लिए की अपेक्षा नहीं है वो तो आपको ध्यान आदि के द्वारा अनुभव करने का एक स्थान एक फायदा कहा गया अगर जगह घुसो वहां पर अनुभव कर लोगे फिर तो वहां जो पकड़ोगे वही निर्विशेष सूक्ष्म मेरा मेरे सापेक्ष सूक्ष्मता नहीं है जैसे तो अन्य में नया करे कभी परमाणु क्या है सापेक्ष सूक्ष्मता कभी एक देख रहा है बड़ा है इस इसका कुछ छोटा है कपाल कपाल का है कपाली का ऐसे हैं टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा सापेक्ष कर देना

नहीं ब्रह्म में चार पांच तेरा तो ज्ञान घूमेगा मतलब ज्ञान चेतन इसलिए निरंजन चेतन इसका प्राप्त बाह्यत्वादिदम सर्वम रूपा ही दिशा एवं इसलिए व्यापित्व कथन या जो है का कथन स्वच्छ का कथन जो भी हम कथन कर रहे हैं बाह्यत्व वगैरह तो सारा चीज वास्तव में उपाधि के दृष्टिकोण से कहा जाता है एक उपाय दृष्टि से कर या दूसरे व्यापक अब यह क्या है वो एक रूप है एक रस है निरंतर है निरंतर में एक रूप भेद निष्ठम नहीं होगी जो भेदिष्ट भी वाली ग्रुप होगा वो अंतर वाला होगा जो निरंतर है वो भेद नहीं हो सकता वो अभेद रूपा है ठीक है ये तो अगर आत्मा के स्वरूप ज्ञान आपने बता दिया आत्मा कैसा चीज है फिर इस आत्मा का अनुभव करने से क्या मिलेगा हमको सारा प्यार सब पूछता करके क्या मिलेगा इस आत्मा के पीछे करने उनको मिलना नहीं है उनके उसका पीछे उनके आदमी का के लिए पूरा क्रम करता है

यहाँ पर बड़ा है मुमुक्ष यहाँ शब्द करवा लेंगे इस मंत्र में इसलिए जाति जो मुमुक्ष होगा उसको क्या फल मिलता है ये तो सर्वाणी भूतानी आत्मूराणी सर्वभूतेषु चात्मानि तो सर्वाणी भूतानी यह किंतु तो इस आत्मज्ञान का कोई फल नहीं है समझ समझो जो परिवराट है सन्यासी मुमुक्षु है मुमुक्ति क्या करेगा आत्मनिव सर्वाणी भूतानी अनुपुष अपने आत्मस्वरूप में सबल भूतों को अनुभव कर लेता है और सबल भूतों को अपने आप को अनुभव भी करता है सबल भूते ही क्या आत्मा सबल भूतों में आत्मा को और आत्मा में सबल भूतों को ओत प्रोत रूपेण अनुभव जो करता है वह व्यक्ति ऐसा ज्ञान को प्राप्त करने मात्र एक और सर्वात दर्शन रूप अनुभव के कारण से तुम न भी जो कुछ पर किसी से विधना हाँ, नहीं करता अंतर राग देश शोक मोह आदि जो जल है वो खत्म संसार में दुख का कारण राग देश शोक इसलिए होता है व्यक्ति को मोह इसलिए होता व्यक्ति को फिर जो किसी को अपना मानता है अपना कोई धर्म का नाटक करेगी तो बुझाई जैसे पागल होगा अपने आप को ऐसी को कर रहा को कर तो अपने से कोई लड़ेगा नहीं अपने को गाली देगा न अपने को कोई कुछ कर बिगाड़ेगा तो हम किसको बिगाड़ेंगे हमारे ऊपर तुम हो नहीं हम अपने सब में और आप ये हम आप सब हमारे अंदर है कैसे करेंगे किसी अरे अपने से हिलेगा तब ना हमारे अपने अंदर ये लग ये तो हमने तो सबके साथ हुआ तो पहला तो कुछ कहा है तुम्हारे गुरु आप आम करके देख देखो आम करके देख अपने आप अपने दिखाई दे या भगवान दिखाई दे रहे हैं तो हमारे में दिख हमारे खुद मरने के बारे में और कहते बाहर जाओ तो कुछ दिखा दूंगा इष्टों को कहते बाहर आओ अंदर बैठे मशीन हो ये अंदर छोड़ क्यों नहीं मार ये कोई छोड़ तो क्यों नहीं मिलता है अंदर दिखाई दे रहा है भगवान के कहते भारत दिखा दिया भारत उसे दिखा चलो भाई तुम बाहरी चीजें देख रहा है क्यों बाहर भी आ गए कैसा चाह है बस तुम्हारे नाटक तुम सब जादू कर रहे हैं तुम बदमाश हो नहीं आपके भीतर हो तुम्हारा तो नहीं होगा शरीर में मेरे वही आत्मा है आपके अंदर है तो खंभे के अंदर महाराज उसी श्रेय जब अपने अंदर हमको दिखाई दे आज सारे मेरे अंदर दिखाई दी तो हमको अपने को नहीं छोड़े आपको मारे फिर अपने को मारना पड़ जाएगा ना इसको को मारने की जगह खुद मर्डर कर लेता अपराध किया मुझे पता है कि स्व अभिन्न होगा अभिन्न अपने अंदर जो प्रतीत हो रहा है तो उनको मारने जाए तो हम खुद ही मर जाएंगे इतना मारेंगे ये जितने अनुभव हो जाएगा कि आप सब हमारे जमीन है और हाँ, हम आप सबके अंदर हैं तो आप किसे निर्देश करें किसे ढूंढो आपके सारे विजयों के साथ सारी घृणा आदि जो आपके अंदर है दूसरे के लिए घृणा करना दूसरे को रागवेश करना अपरापन करापन का भेदभाव सब नष्ट परमानंद स्वरूपानुभूति हो जाती है मुझे यह मेरा मेरे परिवार मुझ फरारी न भूतानी अव्यक्तारी भी अव्यक्ता सदर भूतों को लेना हाँ। स्थावरांताम अव्यक्त से आरंभ करके स्थावर प्रयोग जो कुछ भी सत्य रूपेण प्रतीत होते हैं वह सात सत्यम व्यक्ति से प्रतीत सर्वम अव्यक्तारी स्थावरांतारी हम्म। भूतानी है भूत शब्द आया भूत कौन है भ्रंडी भ्रंडी का क्या है सत्तेन प्रदीयते इति भूतानि प्रतीयते इति भूत भवन्ति न ये ते भूतानि जो कुछ सत्य भाव से प्रतीत हो जाए नाम है कौन है कल बिहारिया अव्यक्त से आरंभ करके जो है स्थावर परिणित आत्मेव अनुपस्थित मेरा आत्मविपरीतता नहीं मैं पश्य वो अपने आत्मा में ही अनुभव कर रहा है मेरा आत्मा से भिन्न रूप अनुभव करता नहीं जैसे भूतल में घट को अनुभव करता है तो वह भिन्न रूप में अनुभव करता है ये भूतल अलग है और इस भूतल में ये जो घट है वो घट भूतल उस जगह ये आत्मा है और इस आत्मा में रहने वाला ये सब भूत अलग है ऐसा अनुभव नहीं ऐसा अनुभव नहीं करता कभी आत्मा से व्यतिरिक्त रूप है अधिष्ठान ध्रुव रूपेण उन कर्तृ पुष्पों को कोई अनुभव नहीं करना पश्चिम